और जो कोई इस जहान में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा और रास्ते से बहुत ही भटका हुआ रहेगा